प्रमादालच क्या वृत्ति दुख दौर मनुष्य दुख दौर मनुष्य बीच में एक तैतीस में पूरा हो गया था प्राण इधानी चित्तोपायन आह पहले मैत्री करना आदि भावना करने के बाद फिर आगे उपाय से चित्त की स्थिति होगी इसे कहा चित्त प्रतिगति स्थिति पतंगल होते तो जो जिन जिन उपाय के द्वारा चित्त की स्थिति होगी वो स्थिति के उपाय तान स्थिति उपायन इधानी आह चित्त स्थिति का उपाय जो वाद्य है पूर्व के पूर्व के तो साथ उत्तर इसका विकल्प नहीं है आगे कहेंगे आगे के साथ ये संबंध है प्रत्यर्पण विधारणाभ्याम प्राण से प्रथम सुग्रह आगे भी है उसके साथ वाह है प्रत्यर्गनंच विधारण इति प्रत्यर्गन विधारणे ताभ्याम प्राण से प्रत्यर्गन विधारणे प्रत्यर्गन और विधारण प्रत्यर्गन है टीका भाष्य में कुछ वायुर्नाशिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रत्यर्गन पूरा प्रोपन बनेगा कोष्ठ से वायु कौ नहीं को कौ है क्या कोष्ठ से कुष्ठे भव कुष्ठ सजा गया तो यत तो हो जाए कुष्ठ से वायु कुष्ठ में पेट में होने वाले जो वायु उसका हो नासिका पुटाध्यान ममनम नासिक दो पुट दो चित्र के द्वारा बाहर निकालना प्रयत्न विशेषात ममनम विशेष प्रयत्न के द्वारा बाहर पूरा निकालना ये गमन हो गया प्रत्यार्थना बाहर रेचक पूरा बाहर छोड़ देना और विधारणम प्राणायाम रुख को रखना साभ्याम व मनुष्य स्थिति में संपादे दोनों के द्वारा मन की स्थिति को संपादन करें स्थिर करें टीका में वा शब्द वक्षमाण उपायांतरा विकल्प विकल्पार्थो वक्षमान उपाय अन्य उपाय की अपेक्षा करके विकल्प के लिए वास्तव दे न कि पूर्व सूत्र में जो कहेगा उसकी अपेक्षा नहीं है न आदि भावना अपेक्षा मैत्रादि भावना करे अथा प्रचार विचारणा ध्यान ऐसा नहीं है क्योंकि तया सह समुचया मैत्रादि भावना भावनाया सह समुचया मैत्रादि भावना करते हुए करके प्राण से प्रसर्जन न विचार नहीं मन की स्थिति पूर्व के साथ समुचय पूर्व के साथ विकल्प नहीं मैत्री करुणा मुद्रित अपेक्षा भावना करे सुख दुख पुण्य पुण्य विजय तो चित्त प्रसन्न होता है तब प्राण से प्रसर्जन न विचार चित्त स्थिति होती है प्रसर्दन का विवरण करते कोष चैत्य प्रयत्न विशेषा प्रयत्न योग शास्त्र उपचार योग शास्त्र में कहा गया विधि पूर्वक प्राणायाम करने के कुछ जान करके प्रक्रिया से करनी चाहिए करना चाहिए योग शास्त्र उपचार योग शास्त्र में जैसे कहा गया विशेष प्रयत्न से बाहर निकालना पत्थर करना ये न कोष्ठ वायु नाटिका पुटाभ्याम शनि रेखिये इसलिए जिस से क्या होगा प्रच्छदन से क्या होता है वायु नासिका पुटाभ्याम शनेर व्यस्य से बाहर निकालते धीरे धीरे विधारण विवरण से विधारण धारण कर रखना विधारण प्राणायाम बाहर निकालना था रेच बाहर निकाल रेचित प्राण से कुष्ठ से वायु यद आयाम प्राण से आयाम प्राणायाम प्राणायाम प्राण से आयाम आयाम है क्या ऐसे दीर्घ रखना प्राण को रखना लंबा करना और ये चित्त से प्राण से कुछ से वायुर्यद आयाम आयाम बहिर्वस्थापन बाहर ऐसे रहेगा वे ग्रहण नहीं करे न तो सहसा प्रवेशन सहसा छोड़ना ग्रहण करना ये तो चलता रहता है सात प्रचार छोड़ने के बाद बाहर ही रखना है लंबा समय फिर बाद में धीरे धीरे लंबा सहसा प्रवेशन नहीं करे बाहर रखना ये आयाम वायु ये प्राणायाम हुआ तो देता ध्यान बाहर निकाले फिर को करे वही को प्रसर्दन विधारणा ध्यान ये दोनों के द्वारा वायु लघुकृत शरीर से वायु प्रसर्दन विधारणा ध्यान प्राणवायु का बाहर रेचन और बाहर रुकना को करने से लघुकृत शरीर से मन स्थिति पदम लभते लघुकृतम शरीर ये मनस तन मन लघुकृत शरीरम मन लघु हो जाता है हल्का हो जाता है प्राणायाम एक साधन है मन को रुकने के लिए वेदांत भी कहते हैं अध्यात्म अधिगम साधु संगम एवं वासना संपरित्याग प्राण सम्यक निरोधन ये साधन है मन को रोकने के लिए अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगम वासना संपरित्याग प्राण सम्यक निरोधन अध्यात्म विद्या का अधिगम अध्यात्म विद्या अध्यात्म शास्त्र चिंतन श्रवण मन ये अध्यात्म विद्या का अधिगम प्राप्ति वेदांत श्रवणादि अध्यात्म विद्या अधिगम ये मन को रोकने के लिए एक साधन है और एक साधन है वासना ये साधु संगम है बस साधु संगम सत्संग सन महापुरुष के पास जा करके विनय पूर्वक अपनी साधना में कैसे कमती क्या है अवस्था उसको बताए मार्गदर्शन ग्रहण करे उसके अनुसार चले ये साधु संगम साधु संगम ये भी एक साधन है मन को रुकने के लिए साधु के पास जाना विधि पूर्वक विधिवत और अपने स्थिति बता करके उसके मार्गदर्शन लेकर फिर प्रयत्न करना ये एक साधन भी है मन को रुकने के लिए और वासना संपरित्याग वासना इच्छा मन में बहुत है उसको सम्यक परित्याग पूरा छोड़ दे तो ये भी एक सरल साधन है और कुछ प्राणायाम न करना पड़ेगा न अध्यात्म विद्या अधिगम बैठ बैठ करके तो वासना को छोड़ दे तो मन रुक जाएगा किंतु वासना को छोड़ देना सरल नहीं है जब छूट जाए और कुछ करना जरूरत है कमरा में बैठो वासना को छोड़कर बढ़ जाओ मन स्थिर करने के लिए वासना इच्छा जितने मन इतने भागता है और नहीं कर पाते तो फिर करना पड़ता है प्राण सम्यक निरोधन प्राणायाम एक साधन है प्राणायाम करने पर जितने जितने प्राणायाम करे दीर्घ काल प्राणायाम को रोके जैसे तक पूर्व को को करके तो मन क्षीण होता है ये साधन है मन को रोकने के लिए चार साधन है इसमें प्राणायाम का साधन है विधान अध्याय पायो लघुकृत शरीर मन लघुकृत शरीर मन लघुकृत शरीर से मन के साथ संबंध नहीं लघुकृत शरीर से वायु मन स्थिति पद में लभते लघुकृतम शरीर ये न वायु न वायु हो लघुकृत हो हल्का होने पर फिर ऐसे वायु जब चाहे जितने समय रक्त होता है तो उसके बाद उसका मन स्थिति में लगते स्थिति को प्राप्त करता मन अत्र उत्तर सूत्रगता स्थिति निबंधनी इति पदार्थ आगे सूत्र में स्थिति निबंधनी स्थिति के कारण उसी को ग्रहण कर स्थिति ग्रहण आकृष्य स्थिति ग्रहण को व्याकरण करते अपकर्ष उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में लाएंगे तो उसको अपकर्ष किस कर लाना है पूर्व सूत्र से उत्तर सूत्र में तो अनुवृत्ति होती है उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में हमको आकर्षण करके स्थिति कर ला करके स्थिति को ला करके प्राण से स्थिति ऐसा अन्य करना संपादित इसके अर्थ प्राप्त न संभव संबंधनीय स्थिति में संपादित स्थिति निबंधन में जो स्थिति को खींच कर इधर ला करके अन्य कर स्थिति में संपादन करे स्थिति उपायंतर महा मन स्थिति का दूसरा होता है एक तो हो गया प्राणायाम प्रथर्दन विधान आगे दूसरा होता है कहते हैं विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधनी मनस स्थिति निबंधनी विषयवती उत्पन्न विषयवती प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रकृष्टा वृत्ति प्रवृत्ति मन की वृत्ति है तो प्रकृष्टा वृत्ति है प्रकृष्टा वृत्ति है अच्छी वृत्ति है प्रवृत्ति है प्रकृष्ट वृत्ति क्या है साक्षात्कार रूपा प्रवृत्ति वी प्रवृत्ति विषय वाली किसी विषय में मन की प्रवृत्ति ऐसे हो जैसे उसका विषय का साक्षात्कार हो साक्षात्कार वाली प्रभु के विषयवर्ती प्रभु के मन की प्रकृष्ट अत्यंत उत्कृष्ट वृत्ति है जो अभ्यास करते हैं धारणा ध्यान समाधि तीनों को स्वयं शब्द से कहेंगे धारणा ध्यान समाधि तीनों मिलाकर के त्रयम एकत्र संयम सूत्र आएगा ऐसे जो करता है तो किसी में मन को लगाए धारणा करे ध्यान करे समाधि करे तो फिर ये संयम करने पर प्रवृत्ति उत्पन्न प्रकट का वृत्ति मन में होगी किसी विषय का साक्षात्कार दिव्य रूप का दर्शन दिव्य गंध का ग्रहण होगा दिव्य विषय का जो बोध ज्ञान होता है उससे मन की स्थिति होती स्थिति का कारण है ये नासिकाग्रे धारयत अध्यात्म में नासिकाग्रे धारय तो या दिव्य गंध संदित था गंध प्रभृति ही नासिका का नासिका है अग्रम नासिका अग्रम तस्मिन धारणा करता है धारणा फिर दीर्घ काल करता है ध्यान समाधि करने पर अस्य साधक से योगिन दिव्य गंध संदित दिव्य गंध से संदित ज्ञान है अलौकिक ग्रंथ सामान्य गंध नहीं अलौकिक गंध का ज्ञान उसी को कहते सा गंध प्रभुति गंध विषयक प्रतिष्ठा वृत्ति प्रभुति गंध विषय का प्रभुति गंध विषय का साक्षात्कार ये प्रभुति है धारणा क्रम से इसे साक्षात्कार दिव्य गंध का ग्रहण होता है सुगंध ऐसे गंध ग्रहण होने पर फिर जितने शास्त्र में कहे गए सब सुनते हैं पढ़ते हैं अभ्यास करते हैं कुछ अलौकिक जब अनुभव होता है तो विश्वास दृढ़ विश्वास हो जाता है सामान्यतः अलौकिक कुछ गंध ग्रहण हुआ दिव्य रस ग्रहण हुआ कुछ थोड़ा अलौकिक होने पर फिर थोड़ा प्रसन्नता लाद आनंद लगता है फिर दृढ़ विश्वास होता है फिर आगे प्रवृत्ति अधिक होती है ये मन को स्थित करने के लिए दिव्य शब्द रूप रस गंध ग्रहण होता है तो मन लगता है अच्छा साधन करने की इच्छा होती है फिर बही विषय बाहर विषय में मन भागता नहीं मन स्थित होता है जिस प्रकार नासिकाग्र धारणा क्रम से दिव्य गंध का ज्ञान होता है इसी प्रकार जिहाग्रे दिव्य रस संबित जिहा का अग्र में धारणा करे लगाकर ध्यान समाधि तो उसमें दिव्य रस का ज्ञान होगा तालु में रूप संवित तालु में धारणा करता है तो धारणा ज्ञान समाधि संयोजन से रूप ज्ञान होता है दिव्य रूप जीवा मध्य स्पर्श संवित जीवा के मध्य में धारण करता है तो कुछ स्पर्श का विलक्षण स्पर्श का ज्ञान होता है जीवा मूल्य शब्द संबित जीवा मूल्य धारणा करने पर सर्वत्र धारणा ध्यान करने पर दिव्य शब्द का ज्ञान होता है ये जो ज्ञान साक्षात्कार उत्पन्न होता है ये दिव्य विषय का विषय वाली तो है एता प्रभुत प्रकृष्टा वृत्ति साक्षात्कार वाले वृत्ति प्रवृत्ति ये स्थिति निबंधन ये उत्पन्न होने पर चित्तम स्थितो निबंधनती चित्त को स्थिति में बांधते रखते हैं दीर्घाभ्यास करते करते स्थिति योग्य कर देते हैं संस्कार उत्पन्न होता है अन्य एक विषय में ध्यान करने पर फिर मन स्थिर हो जाता है फिर योगी जिस विषय में चाहेगा उस विषय में चिंतन करेगा तो मन स्थिर हो जाएगा इसलिए पहले एक स्थान में धारणा पहले के भी करते अभ्यास है इस विषय को लगातार देखते रहना चिंतन करना देश बंध चित्त से धारणा आगे कहेंगे किसी देश में मन को लगाया पहले धारणा किया कुछ समय लगा सके तो अधिक ध्यान कर सकते हैं तो अभ्यास करने पर किसी विषय में एक विषय में भी लगा सकता है पहले एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है ऐसे कहीं कहीं थोड़ा जो ग्रंथ रूप ग्रंथ दिव्य ग्रंथ ग्रहण होता है तो शास्त्रार्थ विषय में दृढ़ विश्वास होता है फिर प्रवृत्ति करने के लिए उत्साह होता है बहुत समय में कोई करते हैं कुछ दिन फिर कुछ नहीं हुआ थक जाते हैं फिर तो उसके ऊपर विश्वास छोड़ देते हैं फिर आगे शिथिलता आ जाती है किंतु कुछ प्राप्त होता है कुछ छोड़े उसे कुछ आत्यंतिक तो प्राप्ति नहीं है कुछ हुआ दिव्य आदि ग्रहण हुआ फिर विश्वास होता कुछ है साधारण विश्वास से विलक्षण गंध शब्द रूप आदि ग्रहण हुआ तो फिर आगे प्रवृत्ति होती है साधक इस प्रकार करते समय कुछ प्राप्त करता है थोड़े बहुत कुछ हुआ तो फिर उत्साह बढ़ता है ये मन को स्थिति करने के लिए भी एक उपाय है इतने मात्र से पुराने नहीं इसमें फिर मन को लगा करके स्थिर करके आगे बढ़ने के लिए धारणा ध्यान टीका में धारणा ध्यान समाधीन पूर्वक करने वाले साधक का सज्जया तीनों करने पर उसको तीनों को संयम कर देते कहेंगे इसको अभ्यास करके जीत लेता है मतलब सर्वता है जितने चाहे लगमन लगा दिया तो यह दिव्य गंध संदित संदिप्त ज्ञान दिव्य गंध विषय का संदिप्त का तो साक्षात्कार तो साक्षात्कार होता है एवं अन्य सभी प्रवृत्ति प्रवृत्ति से योग्यम जैसे भाष्य में कहा नासिकाग्र धारय तो अत्यया दिव्य गंध संदिप्त का गंध प्रवृत्ति हुई ये थोड़ा सा व्याख्या करने के बाद आगे अलग नाम नहीं दिया जीवा हाँ, आगे दिव्य रस समिति तालु ने रूप तो समिति जीवा मध्य स्पर्श समिति इतना जोड़ना पड़ेगा जीवाग्रे धारयत अत्य या दिव्य गंध संधि अत्य दिव्य रस संबित तालु ने धारयत या रूप संबित स्थान स्थिति निबंधनी ऐसे सब तो साथ तो अन्य करना एवं अन्य प्रवचनी अन्य योजना करना एक आगमान प्रत्येतव्यम लोप कथित ये भी आगम प्रमाण से है अपनी युक्ति के द्वारा विभाग्र धारण करने से गंध हो गया और नाकाग्र धारण करने से गंध हो गया और तालु में धारण करने से रूप समिति क्यों हुआ जुहा मध्य धारण करने से स्पर्श ज्ञान क्या होता है ये युक्ति से नहीं ये प्रमाण शास्त्र आगम प्रमाण से इसे समझ करना पड़ता है करने पर जो ज्ञान होता है न उपपत्ति युक्ति से नहीं इसके और फिर प्रश्न करते सद किमेतादृग्भीर वृत्ति भी कैवल्यम प्रति अनुपयोगिनी भी है इन वृत्ति से क्या प्रयोजन है कैवल्य मुख्य जिसको चाहिए वो तो निर्विकल्प समाधि पहले प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति बेहद ज्ञान हो आगे उसको भी छोड़ करके निर्विकल समाधि करना चाहिए योग सत्र के अनुसार अब ये सब वृत्ति मन की वृत्ति है दिव्य गंध ज्ञान रूप ज्ञान रूप ज्ञान इनसे क्या प्रयोजन है ये मेता भी वृत्ति भी कैवल्य के प्रति अनुपयोगिनी जो वृत्ति है वृत्ति से क्या प्रयोजन है ऐसा संक्रांत कहते हैं प्रवृत्त उत्पन्न चित्तम चित्तो निबधनती ये प्रवृत्ति प्रकृष्टा वृत्ति प्रवृत्ति साक्षात्कार वाले अंतगण वृत्ति उत्पन्न होने पर चित्त की स्थिति में स्थिर करते हैं जैसे निबंधती ठीक है ऐसा वृत्तय अल्पेन कालेन उत्पन्ना चित्तम ईश्वर विषयाम विवेक ख्याति विषयाम स्थितो निबधनती ऐसे वृत्ति जब आरंभ होते अल्प नहीं होता ऐसे वृत्ति होने पर स्वल्प समय में उत्पन्न होकर के चित्तम ईश्वर विषयाम निबद्धंती ये सब वृत्ति चित्त को ईश्वर विषय करती है ईश्वर विषय स्थिति कराती है ईश्वर का जो चिंतन करेगा ईश्वर विषय हो जाएगी स्थिति अथवा विवेक ख्याति विषय प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान भेद वेद को विवेक ख्याति में चित्त तो निबधांति ये वृत्ति चित्त को स्थिर कर देती है अभी इस करते चित्त बड़े नासिकाग्र का चिंतन करता है गंध ज्ञान हुआ तो चित्त को ईश्वर में प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान में कैसे स्थिर कराएंगे ननु अन्य विषयावृत्ति कथम अन्य स्थिति निबधनाती जिसको देखता है विचार करता है चित्त उसमें स्थिर होगा चिंतन करते हैं नासिक आग्रे में दिव्य गंध हुआ सुंदर गंध सुगंध ग्रहण हुआ तो चित्त स्तर में कैसे स्थिर हो जाएगा विवेक ख्याति विषय कैसे हो जाएगा गंध विषय की वृत्ति मन में हुई वह वृत्ति चित्त को लेकर के ईश्वर में कैसे लगा देगी अन्य विषयावृत्ति कथम अन्य स्थिति में निबद्ध आती अन्य विषयावृत्ति अन्य विषया हस्तावृत्ति अन्य विषयावृत्ति चित्त को अन्य में कैसे स्थिर कर देगी इत्यतः इसलिए कहते भाषण में संशयम विधमती समाधि प्रज्ञा से द्वारी भवंती संशय को नष्ट करते विधमंती विधमंती का अर्थ क्या अपसारयती घराधमा धम होता धमा विधमती का अर्थ अपसार नष्ट कर देते हैं संशय की निवृत्त कर देते हैं फिर सुगंध ग्रहण हुआ दिव्य रस ग्रहण हुआ फिर मन में कुछ शास्त्र विषय का संशय रहता है तो संशय को नष्ट कर देते हैं शास्त्र में बिल्कुल संशय नहीं हो तब आगे शास्त्रोक्त मार्ग में चलने के लिए उत्साह होता है थोड़े थोड़े अंदर संदेह होता है तो फिर थोड़ी जाता है फिर सोचता है पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा आगे है या नहीं फिर उत्साह नहीं होता है बहुत में तो होता है बोलना नहीं पड़ता है जितने उत्साह से चलते हैं मन में थोड़ा जी हताश भाव आ गया पता नहीं कुछ मिलने वाला है आगे होने वाला या नहीं फिर वो आगे प्रवृत्ति कम हो जाती है जब कुछ ऐसे अनुभव हो गया साक्षात्कार हो गया तो संशय नष्ट होता है तो समाधि प्रज्ञान से द्वार ही बनती समाधि प्रज्ञा में ये तो द्वार हो जाती इसके द्वारा भी समाधि हो जाती है ठीक है अतएव समाधि प्रज्ञायाम इसे समाधि प्रज्ञा तो द्वार हो जाते हैं इति दृष्टियंतरणाम अति आगम सिद्धाना विषयवत्व अति दिशा अन्य जो वृत्ति है वृत्ति अंतर अन्य वृत्ति आगम सिद्धान आगम प्रमाण सिद्ध वत्व उसमें भी कुछ कुछ विषय जिस जिस विषय का ज्ञान होता है उसके बाद ज्ञान होने के बाद मन स्थिर होता है संस्करण निवृत्त करके ऐसे न भाष्य में चंद्रादित्य ग्रहण ग्रह मणि प्रदीप रत्नादि से प्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती वेदितव्या चंद्र विषय का आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रत्नादि में प्रवृत्ति साक्षात्कार वृत्ति है प्रतिष्ठा वृत्ति प्रवृत्ति साक्षात्कार वाली इसी विषय का ज्ञान होता है तो वो सब विषयवती व प्रवृत्ति विषय वाली दिव्य से कुछ विषय का ग्रहण होता है ज्ञान होता है ठीक है नन आगमादि अवगतेषु अर्थेशु कुत संशय आगम आदि से गुरु आदि से आचार्य आदि से परंपरा से स्मृति आदि से ज्ञान हुआ जो अवगत अर्थ शास्त्र में जैसे कहा गया उसमें तो दृढ़ विकास हो जाएगा संशय क्यों होगा और संशय को नष्ट करती ही प्रवृत्ति से कहते हैं संशय होगा क्यों उसके संशय होने पर स्पष्टीकरण करते हैं यद्यपि कि तत्व शास्त्रानुमान आचार्य उपदेश ही अवगतम अर्थतत्व सद्भुतम एवं भगवती शास्त्र शास्त्र एक प्रमाण है उसके बाद अनुमान शब्द से ज्ञान होने पर भी अनुमान के द्वारा तो सुनिश्चय किया जाता है जो हाँ तर्क का विषय है अनुमान के द्वारा जो श्रवण जैसे वेदांत में आगम प्रमाण से श्रवण किया फिर उसके मनन करने के लिए अनुमान के द्वारा मनन करते हैं इसी प्रकार यहाँ शास्त्र से ज्ञान हुआ अनुमान पर तर्क की संभावना के लिए अनुमान और आचार्य के उपदेश गुरु के उपदेश इनसे अवगतम अर्थ तत्व जो अर्थ का तत्व अवगत ज्ञात हुआ वो तो वास्तव ही शब्द प्रमाण है आचार्य उपदेश है अनुमान भी सहकारी है तो जो अर्थ का ज्ञान हुआ वो अर्थ तत्व तद्भुतम है वास्तव ही है तो फिर इसमें संशय क्यों होगा संशय निवृत्ति के लिए यह विषयवती प्रवृत्ति क्या जरूरत है तो तथा एक यथाभूता अर्थ प्रतिपादन सामर्थ्या क्योंकि शास्त्र अनुमान उपदेश आचार्य उपदेश यथाभूतार्थ प्रतिपादन था सामर्थ्यात वास्तव जैसे अर्थ है इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र में सामर्थ्य अनुमान आचार्य उपदेश सामर्थ्य है तो फिर संशय क्यों होता है यहाँ तक प्रश्न यदि जो हो है तथापि तथापि यावत एक देशोपि तस्वीर न स्वकर्म संप्रेत होती तावत सर्व परोक्ष में परोक्षमिव अपवर्ग आदि सूक्ष्म न दृढ़ बुद्धि बुद्धिमत्तादे यही है स्वकर्ण कुछ थोड़ा सा यावत एक दोष की कच्चे न स्वकर्ण संवेद्य भवती कुछ अपने कर्ण संवेद्य कर्ण के विषय कर्णजन्य ज्ञान इंद्रजन्य ज्ञान का विषय अंतकर्ण में कुछ बाहन प्रकट हुआ कुछ भान हुआ इस शास्त्र में जितने कहेंगे उसमें एक देश एक अंश कुछ थोड़ा सा जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक क्या है सब श्रवण मनन करके चलते हैं साधन करते योग अनुष्ठान करते हैं किंतु सर्वम परोक्षम अपर वर्ग आदि से सूक्ष्म अक्षु न दृढ़ बुद्धि उत्पादित शास्त्र से श्रवण करता है गुरु मुझसे श्रवण करता है विश्वास करता है कुछ भी थोड़ा सा अनुभव जब तक नहीं होता है तब तो लगता है सब परोक्ष है यहाँ से लेकर के अपवर्ग अपवर्ग से लेकर के अपवर्ग आदि को मोक्ष में भी मोक्ष अपवर्ग ऐसे मोक्ष होगा और अद्वितीय ब्रह्म है उसके पहले स्थिति और श्रवण मनन विद्यासन अविद्या की निवृत्ति होगी ये विभिन्न प्रकार संशय होगा सुखेश अर्थेश न दृढ़ बुद्धि उत्पादित जब तक कुछ एक देश भी ज्ञान नहीं हो तब तक दृढ़ बुद्धि नहीं होती है बुद्धि तो होती है बुद्धि में थोड़ा सा संशय हो तो दृढ़ नहीं होती बुद्धि बुद्धि दृढ़ होने पर दृढ़ निश्चय होने के बाद आगे साक्षात्कार करने के लिए मन निर्ध्यासन करता है प्रगति होती है इसलिए ये सब मनस्थिति के लिए कारण है ऐसे अच्छे साधक साधन करते कभी कभी कुछ श्रवण करते आकाशवाणी भगवान का चिंतन करते थे कुछ सपने में कुछ तो हो गया कभी कुछ दर्शन कर लेते हैं ऐसे बैठ कर रहने पर कभी कुछ किसको रूप दिख जाता है शब्द सुनता है वो शब्द को सुनाई पड़ा कुछ हो गया इतने मात्र से कुछ नहीं हुआ है और उसके मात्र इतने मात्र से तृप्त होने से नहीं किंतु कुछ हो तो उसके आगे उत्साह से प्रवृत्ति होनी चाहिए जिनके आगे प्रवृत्ति नहीं होती या तो वासना बहुत इच्छा नहीं थी यह अथवा अंतकरण कर्म से पाप है इससे आगे प्रवृत्ति नहीं होती ईश्वर की कृपा से कभी गुरु कृपा से इसे किसी को कुछ थोड़ा सा अनुभव हो जाता है फलपन तो होता है कभी लगता है तो वेदांत श्रवण चिंतन करते हैं मैं कहता हूँ श्रवण काल में भी ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है एकाग्र होकर के श्रद्धा श्रद्धापूर्वक श्रवण करने पर श्रवण काल में श्रवण काल में भी कभी मन स्थिर हो जाएगा लगता है सब कुछ हो गया हम सिंह ब्रह्म ऐसे थोड़े समय कभी ब्रह्माकार वृत्ति कभी हो जाए वेदांत में थोड़े ब्रह्माकार वृत्ति थोड़े समय हो जाए फिर लगता है हाँ ये स्थिति अच्छी स्थिति है ऐसा हो सकती है वृत्ति लगातार रह सकती है और इससे ब्रह्माकार वृत्ति लगातार रहे तो सांसारिक भय कुछ नहीं मन नहीं जाएगा नित्य मुक्त में हूँ ये सब विश्वास दृढ़ हो जाता है जब तक ऐसे थोड़ी सी भी ब्रह्माकार वृत्ति आदि जिसकी प्राप्ति नहीं हुई तब तक श्रवण अध्ययन कर लेते हैं प्रवचन अध्यापन सब संभव है किंतु आगे कुछ अंधकार दिखता है हताश हो जाते उत्साह नहीं होता है बहुत लोगों को लगता है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है कुछ कुछ लोग बड़े बड़े ऐसे ही बोल देते हैं ये आज का ऐसा नहीं होता है आज का नहीं होता है अगर कहते मतलब पहले होता था ये सब अपने स्वयं असफल है तो नहीं क्या असफल क्या प्रयत्न भी नहीं करते बहुत लोग थोड़ा श्रवण किया उसके बाद कथा प्रवचन करने लगे साधन भोजन नहीं किया तो कैसे होगा इसलिए कोई ज़्यादा उम्र हो जाने पर अथवा ज़्यादा शास्त्र ज्ञान हो गया तो कुछ प्राप्त कर लेता है अथवा ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कथाकार हो गया लोक भक्त बन गए तो उसे प्राप्त कर लिया कोई जरूर नहीं है पूर्व संस्कार जिसका है अल्प उम्र में भी थोड़ा अध्ययन स्वस्थ किया अभ्यास करता है कुछ स्थिति प्राप्त कर लेता है वो जान लेता है बड़े बड़े लोगों को भी समझ लेता है ये लोगों के पास कुछ है ही नहीं समझ लेता है तो किसको निंदा करना है किसको कहना है स्वयं अपने देख लेता है अपने कहाँ तक तो पहुँचा है और बड़े बड़े सब है किंतु उनकी स्थिति अभी यदि बड़े कोई कहता है नहीं अरे आजकल ऐसा थोड़ी होता है अच्छा आजकल कुछ नहीं होता है तो जो अच्छा साधन को जान लेते हैं कि ये प्राप्त ना नहीं क्या है ना कुछ करने का भरोसा भी नहीं उनको कि मिल सकता है वही जैसे कुछ है मन में रख देते नहीं ऐसे तो कुछ मान करके रहते जितने हो गया इतने यही है और कुछ विशेष तो होता ही नहीं कुछ मान लेते हैं तो ले आगे प्रवृत्ति नहीं होती और जिसको थोड़ा सा अनुभव कुछ हो जाता है फिर आगे प्रवृत्त होता है जैसे भक्ति मार्ग करते भक्ति करते हैं परमात्मा का दर्शन होना तो होता है देर में उसके पहले भी कुछ कुछ ऐसे हो जाता है कभी कुछ विषय में कोई परेशानी है कभी कुछ सपने में कुछ आदेश प्राप्त कर लिया ऐसा करो आगे कुछ करता है तो कुछ प्राप्त कर लेता है कुछ विश्वास होता है फिर आगे चलता है ऐसे बहुत लोग होता है सपने में कुछ हुआ वास्तव ऐसे घटना हुई कोई बहुत दुखी होकर के उसको सपने में कुछ आदेश हो गया बाद में देखा ऐसे करने से उसको आशा सफलता मिली तो फिर ईश्वर में भक्ति अधिक हो जाती है इसी प्रकार वेदांत में विचार करते करते ब्रह्माकार वृत्ति कभी हो जाती है हो थोड़ी सी यदि ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो वह आगे करने के लिए उत्साह होता है करता है आगे बढ़ता है इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे कुछ जितने हैं तो शास्त्र में कहा गया उसका एक देश स्वल्प अंश भी साक्षात्कार नहीं हुआ तो तो लगता है कि ये सब परोक्ष जैसे लगता है आगम सिद्धांत एक उपदिष्टार्थ एक जैसे प्रत्यक्ष करण नहीं भाष्य में भाष्य में यावत एक देश की कस्ती न स्वकरण संवेद्य भवती एक देश भी कुछ अपने करण संवेद्य कर्णजन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है तब तक लगता है सर्वम परोक्षम अपवर्ग मुख्यादि सूक्ष्म से अर्थ विषय अत्यंत सूक्ष्म है न दृढ़ बुद्धि उत्पादित दृढ़ बुद्धि नहीं होती है इसलिए तथा शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश उत्पदनार्थम एवं अवश्यम कश्चित विशेष प्रत्यक्ष कर्तव्य शास्त्र में जैसे कहा गया अनुमान से सिद्ध होता है आचार्य का उपदेश उसको उपद्वलन उसको दृढ़ करने के लिए ही अवश्य ही कुछ तो विशेष प्रत्यक्ष करना चाहिए कुछ अनुभव होना चाहिए थोड़े कुछ अनुभव हो जाएगा तो आगे सफलता मिलेगी प्रवृत्ति होगी है नहीं श्रद्धा मूलो ही योग योग करने के लिए मूल है श्रद्धा श्रद्धा मूला यश्य श्रद्धा अत्यधिक होने पर आगे साधन होता है योगाभ्यास करे मनोनिध्यासन करे दीर्घ श्रद्धा होने पर विश्वास होता है आगे प्रभुत्व होता है इसलिए समाधि सत्संपत्ति में श्रद्धा जी के साधन शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा पतिता पदवी यया वस्तु उपलब्ध थे वो श्रद्धा कहेगी जिसे उपस्थित उपलब्ध साक्षात्कार होता है तदमूल तो अनुष्ठान होता है उपदिष्टार्थे के जैसे प्रत्यक्षीकरण श्रद्धा अतिशय जाए अतिशय जाए थे उपदिष्ट अर्थ का एक जो स्वल्प अंश का प्रत्यक्ष यदि हो जाता है तो फिर शास्त्र के अर्थ में विषय में अतिशय श्रद्धा आ जाए तो श्रद्धा अधिक हो जाती है श्रद्धा अधिक होने पर फिर ध्यानादय अत्य अप्रत्युभम भवंती निर्विघ्न ध्यान धारणा आदि समाधि आदि ध्यान समाधि आदि होते हैं भाष्य में तत्र तदुपदिष्टार्थ एक देश से प्रत्यक्ष सती शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ जो उपदेश प्राप्त किया उसमें एक देश एक अंश का प्रत्यक्ष यदि हो जाता है सर्पंश का अनुभव यदि हो जाता है सर्वम सुसूक्ष्म विषयमी आप वर्गात अत्यंत सूक्ष्म विषय है आ अपवर्ग अपवर्ग पर्यंत जितने अत्यंत सूक्ष्म विषय होने पर भी सूक्ष्म विषय से तो सामान्य लौकिक विषय नहीं है तो भी स्वल्प यदि अनुभव हो गया तो सुश्रद्धते सुस्वती श्रद्धा होती है एक तदर्थम एवं चित्त परिक्रम निर्दिशते ये पहले कहता था परिक्रम परिस्थिति चित्त का परिष्कार शोधन इसलिए चित्त अंतकोण शुद्ध के लिए कहा जाता है अंतकोण शुद्ध होने पर अभ्यास करने पर कुछ कुछ थोड़ा अनुभव होता है तो शास्त्र में दृढ़ विश्वास होता है अन्यता तो वृत्तिशु तद विषयाम प्रतिकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थन सियाद दृष्टि अन्यत है किसी विषय की कभी किसी विषय की दृष्टि है अन्यता की दृष्टि से तद विषयाम जो गंध विषय वृत्ति हो गई उसको प्रतिकार से हो गया प्रतिकार संज्ञायाम उपजाता है संज्ञा है जिसमें मन को चाहेगा उसमें लगाएगा चीज विषय कर मन को लगा करके धारण ध्यान समाधि करने पर उसका साक्षात्कार जो करता है तो उसके बाद अन्य किसी भी विषय में मन लगा सकता है गंधादि विषय को वसीकार संज्ञा वाले इसे स्थिर होने पर उपजाति उत्पन्न होने पर फिर उसके लिए किसी किसी जिस किसी विषय में मन को लगा करने के लिए समर्थ हो जाता है चित्त तस्य तस्य अर्थ से प्रत्यक्ष करना है मन किस में लगा सकता है धारणा ध्यान समाधि करेगा उसके बाद तद विषय का प्रत्यक्ष भी कर सकता है तब तथा चेत श्रद्धा वीर स्मृति समाधि अप्रतिबंधन भविष्य देवी फिर श्रद्धा बढ़ जाती है अधिक दृढ़ हो जाती है वीर सामर्थ्य आ जाता है स्मृति होती है चिंतन समाधि अप्रतिबंधन तत्व निर्विघ्न होकर के ये सब आगे आगे प्रवृत्ति होती है समाधि आदि होती है इसलिए ये भी हो गया मन की स्थिति निबंधन नहीं विषय प्रतिपदी साक्षात्कार शोका वा ज्योतिष्मती ये प्रवृत्ति शोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मनस स्थित निबंधनी दास दे दिया प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थित निबंधनी भ्रष्टा वृत्ति प्रवृत्ति है विशोका शोक रहित दुख रहित है ज्योतिषमती है प्रकाश प्रकाश रूपा मन में दुख रहित तो प्रकाश रूप वृत्ति होती है प्रवृत्ति ऐसे साक्षात्कार ऐसे प्रकर्षा वृत्ति होती है ये होने पर मनस स्थिति निबंध मन स्थिति का कारण है टीका में विश्व विगत शोका विश्व का अर्थ क्या विगत शोका दुख रहता ज्योतिषमती का तो ज्योतिर अस्या अस्थिति ज्योतिषमती मतु प्रकाश रूपा भाष्य में हृदय पुंडरी के धारय तो या बुद्धि संबित हृदय के में धारणा करता है बुद्धि संबित बुद्धि के विषय में संबित अनुभव होता है हृदय पुंडरी के का में हृदय का उरस और मध्य यद पद्म उदर पेट उरस छाती के बीच में पद्म है कमल अधोमुखम तिष्ठति अष्टलम ध्यान करने के लिए भी पहले प्रारंभ करते हैं बाहर चिंतन करते हैं अंदर चिंतन नहीं कर पाते तो बाहर मूर्ति फोटो रूप कुछ लेकर के पहले धारणा ध्यान समाधि करते हैं बाहर करने के लिए जो समर्थ होता है तो हृदय में भी चिंतन कर सकता है जिसका पूर्व जन्म में कुछ पूर्व जन्म अभ्यास बहुत तो हुआ था संस्कार है उसको अंदर भी ध्यान करना सरल लगता है कोई बाहर करना पसंद करता है तो अंदर जब ध्यान करेगा भक्ति करते समय इष्ट देवता का ध्यान चिंतन करते पहले प्रयास हो अद्वैत चिंतन तो पहले कुछ करने पर साधन चतुष्ट होने पर अद्वैत चिंतन होता है जिसका पहले पूर्वजों में सब कुछ हो गया है शुरू से अद्वैत चिंतन कर सकता है कोई आवश्यक नहीं कि सबको ही पहले द्वैत उपासना करना अभी जन्म करना पड़े जन्म कर्म करना पड़े नहीं कर्म उपासना आवश्यक है जिसके पूर्वजों में बहुत कुछ हो गया है वेदांत श्रवणादि बहुत कुछ हो गया है उसको स्वल्प काल में भी अद्वैत में निष्ठा हो सकती है ऐसा अभ्यास करते हैं हृदय कमल में इष्ट देवता को रख करके उनका चिंतन करना चिंतन करने के लिए एकाग्र करने के लिए ये प्रक्रिया है हृदय समझ हृदय हृदय में कमल पुष्प ऐसा उल्टा होकर रखा है कमल खिलता है उतर रहता है किंतु उल्टा है ये दे दिया अधोमुखम तिष्ट छाती और पेट के जो हृदय में पद्म पुष्प पद्म है अधोमुखम एक नीचे है अष्टदलम उसमें अष्टदल है चार तरफ जो पाखड़े होते हैं दल वाले पद्म फिर उसको क्या करना रेचक प्राणायाम ने तदूर्ध मुखम कृत्वा तत् चित्तम धारे जो ध्यान करते इस देवता का पहले हृदय कमल का चिंतन करेंगे कमल पुष्प नीचे जैसे फिर भावना करके कमल के ऊपर किया और योगियों लोग प्राणायाम करेंगे रेचक प्राणायाम इस प्राणायाम करते करते जो शरीर हल्का हो जाता है मन भी क्षीण हो जाता है शिथिल लघु हो जाता है ध्यान लगता है एकाग्र मन में वासना के कारण बाहर इधर उधर व्यग्रता यही कारुष्य के कारण सामर्थ्य बहुत ही है कि मन इधर उधर भागता है वो सब हट करके एकाग्र कराना एकाग्र होने पर मन में सामर्थ्य आ जाता है एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है प्राणायाम करते करते बाहर से मन को हटा देता है एकाग्र करने के लिए मन की ओर जो बाहर दौड़ता है प्राणायाम बाहर बाहर करे तो मन क्षीण होता है दौड़ना बंद हो जाता है जितने जितने विक्षेप अधिक है उसको रोकने के पहले प्राणायाम भी आवश्यक होता है और जब जब ध्यान करते हैं थोड़ा प्राणायाम करके ध्यान करे तो मन स्थिर होता है एकाग्र नहीं होता है थोड़ा प्राणायाम करके बैठे थोड़ा प्राणायाम अब ये नियम है थोड़ा तो बैठे तो थोड़ा प्राणायाम करके फिर करें तो मन स्थिर होता है जिसके अभ्यास से स्थिर हो जाता है प्राणायाम की नाम अच्छी बात है नहीं तो थोड़ा प्राणायाम करके रहे तो फिर चिंतन होता है जप करने के लिए ध्यान करने के थोड़ा प्राणायाम करके फिर चिंतन करे मन एकाग्र होता है ऐसे प्राणायाम अभ्यास करके योगी क्या करते कमल को नीचे वाले मुख है उसको ऊपर करना विचार करेंगे जो ध्यान करते हैं इष्ट देवता का अपने आप इसे चिंतन करेंगे योगी प्राणायाम के द्वारा किसी प्रकार कमल को ऊपर करना एक प्रकार है मानस पूजा बाह्य पूजा करने के लिए उपकरण सब चाहिए बाह्य जाकर के अभिषेक करने के गंगा जल दूध नाव मधु दुग्ध दधी चकर पुष्प गंध चंदन धूप दीप नैवेद्य सब करके पूजा करते हैं और जिसके पास कुछ नहीं वो बैठ के आराम से आसन लगा करके उसके लिए थोड़ा आसन आदि इसलिए आवश्यक पड़ता है बैठे फिर बैठ करके चिंतन करें मानस पूजा करने के लिए सामग्री का अभाव नहीं है बाह्य पूजा करने के लिए सामग्री का अभाव सामग्री संपादन करना पड़ता है मानस पूजा बैठ जाओ समुद्र गंगा जल लगा कर डाल रहे हैं कितने मन से गंगा जल डालते तो बड़े बड़े कुंभ लाकर दस बीस कुंभ डालते जाए मन से तो डालना है तो कुछ करना नहीं ना समय लाना है एक बुद्ध के लाने जोड़ते मन से डालो डालता है तरह से एक दूध डालना है तो कमजोती क्यों करना डालते जाओ दूध गाय का दूध ऊपर डालते जाओ अच्छी तरह से दूध बहुत थोड़ी देर से चिंतन का दूध चलता है बहुत आ जाता है फिर दही लगाना घेता लगा लगाओ मधु लगाओ बीच बीच में जल जाए कि बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बर्तन में भर कर फिर डाल दो फिर दधि डालो फिर ऐसे करो अच्छी तरह से उसके लिए समय चाहिए वो एक घंटा आप समय दो एक घंटा चिंतन करो पूरे पूजा करने के लिए एक घंटा जी कम है एक घंटा बैठ कर चिंतन करो पूरा अभिषेक करो मार्जन करो एक एक एक दूसरा उसके साथ मंत्र आदि यदि तो मंत्र आदि याद है तो बोलो एक एक करते जाओ करके फिर चंदन लगाओ अच्छा सुगंध चंदन पूरा लेपन कर दस की तरफ से भर दो फिर पुष्प जितने सुगंध पुष्प इतने पुष्प भर दो मंदिर भर भी जाएगी बैठने की जगह नहीं होगा ऐसे पुष्प डालते जाओ पुष्प सुगंध नैवेद्य नैवेद्य फल भोग लगा पुष्प भोग लगा माला चढ़ाओ सुंदर माला इसी प्रकार मानस पूजा करने से भी फल प्राप्त होता है ये नहीं कि मानस पूजा खाली कल्पना मात्र नहीं कल्पना के द्वारा इसे मन एकाग्र होता है इसके द्वारा भी फल प्राप्ति होती है ये श्रेष्ठ है ऐसे कर पाए तो मन से एकाग्र होकर करना पड़ता है और बीच में इधर उधर बहिर्मुखता होता नहीं होगा एकाग्र होकर पूजा आरम्भ कर करें इसी प्रकार ये मन से हृदय कमल को अधोमुख है इसको नीचे ऊपर करना मन को पूजा में प्रत्याय लगातार करने के लिए बहुत समय है बोलने के लिए समय लगे करते समय ऐसे करना होता है एक हृदय कमल एक नीचे है कमल हृदय में उसको अधोमुख को ऊर्धमुख करना ये प्राणायाम के द्वारा ऊर्धमुख करके सत्र चित्तम धारित चित्त का उसमें चित्त की धारणा जैसा बंद चित्त से धारणा उसके मन को लगाए तन मध्य सूर्य मंडलम अकारो जागृत स्थानम इस प्रकार के ध्यान प्रक्रिया है ऐसी चिंतन करने के लिए ओ